आठवीं हदीस खुदा खाने के लिए नौकर से मुतमिन रहना है और उसकी तारीफ की जाएगी अब वो शराब पीता है लिहाजा इसकी तारीफ की जाएगी